الله عليه وسلم हजरत सदर शरिया बदर तरीक़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली ख़ान कादरी रहमत ताली अपनी किताब बाहर शरीयत में आप एक उनवान कायम करते हैं और उसमें ये लिखते हैं मुसलमान को मुसलमान काफिर को काफिर जानना जरूरियात दीन से है यानी मुसलमान को मुसलमान समझना और काफिर को काफिर समझना ये एक ऐसी चीज है कि जो दीन की जरूरियात से ताल्लुक रखती है अगर कोई इसके बरक्स करेगा तो खुद उसके ईमान पर असर होगा यानी काफिर को वो काफिर नहीं जानेगा या मुसलमान को काफिर जानेगा तो इस सूरत में उसके ईमान पर असर होगा यहाँ तक कि काफिर को काफिर ना जानना या उसके कुफर में शक करना ये भी कुफर है बाद लोग इस मौके पर ये कहते हैं कि हमें क्या मालूम ये इस वक्त काफिर है हो सकता है बाद में मुसलमान हो जाए लिहाजा हम इसे काफिर नहीं कहेंगे तो देखें बाद का तो किसी का पता नहीं है एक काफिर है उसे बाद में ईमान की दौलत नसीब हो जाए लेकिन इस वक्त तो काफिर है तो काफिर को हम काफिर कहेंगे यूं तो फिर मुसलमान को भी मुसलमान नहीं कहना चाहिए पता नहीं कब वो काफिर हो जाए भाई किसी मुसलमान के मुतालिक हम कहें भाई हम इसको मुसलमान नहीं कहते क्योंकि बात का पता नहीं है कि वो कब जो है काफिर हो जाए तो बात के हालात पर गुफ्तगु नहीं हो रही अभी जो हालात है उस पर बात है अगर काफिर है तो काफिर कहें मुसलमान है तो मुसलमान कहें फिर दूसरी बात यह है कि अकद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि जब तुम बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको और हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको और जबान से नहीं रोक सकते इतनी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानो और बुराई को दिल में बुरा जानना ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है जो शख्स बुराई को दिल में बुरा जानेगा तो यकीनन वो उसके करीब नहीं जाएगा तो गुनाहों के मुकाबले में सबसे जो बुरी बुराई है वो बुरा अकीदा है तो अगर कोई शख्स बदअकीदा है बद मज़हब है यानी बिदती है और आप पिछले लेक्चर में समाप्त कर चुके कि सबसे जो बुरी बिदत है वो अकीदे की बिदत है यानी वो अकीदा जो इस्लाम ने हमें नहीं दिया कुरान ने नहीं दिया हदीस में नहीं है सहाबा कराम का अकीदा नहीं था और ऐसा अकीदा ईजाद करना कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ है जिसे बदअीदगी कहते हैं तो जितने बदमजहब हैं बदअकीदा हैं सारे बिदती हैं मसला तमाम मुसलमानों का हमेशा इस पर इजमा रहा और साहब कराम इस पर मुतफिक रहे कि कुरान के ये तीस पारे हैं और ये मुकम्मल हैं अब अगर कोई ये कहता है कि कुरान के चालीस पारे थे और दस पारे जो है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तारों की बकरी खा गई तो ऐसा शख्स यकीन बिदती है कि वो एक ऐसा अकीदा बयान कर रहा है जो कुरान के खिलाफ है क्योंकि कुरान इशाद फरमाता है इन्ना नहनो नजल न जिक्र व इन्ना लहू लाफिगून बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे तो इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती तो जब कोई बुराई हम हाथ से नहीं रोक सकते जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दर्जा क्या है दिल में बुरा जाने और जिसकी बात हमें दिल में बुरी लगे हम उससे मेल जोल नहीं रखते अगर आप किसी के यहां जाए और वो आपकी बेइज्जती कर दे आपकी तोहीन कर दे आपकी इंसल्ट कर दे तो तीन सूरतें हैं या तो हाथ से जवाब देते हैं या जबान से जवाब देते हैं या दिल में बुरा जानते हैं अगर आप दिल में बुरा जानते हैं तो फिर आप उसके घर पर नहीं जाते आप उससे ताल्लुक नहीं रखते आप उससे दोस्ती की फजा कायम नहीं रखते आप कहते हैं ये दोस्ती के काबिल नहीं है इसने फला दिन मेरे साथ ऐसा किया हालांकि दुनियावी तौर पर अपनी ज़ात के लिए तो रसूलुल्लाह ने हमें माफ़ करने का हुक्म दिया लेकिन हम अपनी ज़ात के लिए माफ़ नहीं करते हालांकि अपनी ज़ात के लिए माफ़ करने की बहुत फजीलतें हैं लेकिन जहां बात आती है रसूलुल्लाह की ज़ात पर अल्लाह ताला की शान के बारे में कुरान के बारे में साहबा कराम अहल बैत अतार अलिया कामिलीन की शान के बारे में तो हम वहाँ पर कहते हैं छोड़ो भाई छोड़ो रहने दो ये जो भी करता है हमें बुरा नहीं मानना चाहिए ताल्लुक उससे उसवार रखने चाहिए तो ये सोच ये बताती है कि हमारे दिल में वाकई नफरत नहीं है अगर साहबा कराम से अलिया कराम से वाकई प्यार होगा तो जिससे प्यार होता है उसकी मुखालफत करने वाले से बंदे की दोस्ती हरगिज नहीं हो सकती फरमाया कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की तालीमत के मुताबिक हम पर यह लाजिम है कि जो बदअकीदा लोग हैं यानी बिदती जो लोग हैं जिनके अकायद ख़राब हैं उनसे मेल जोल न रखें शादी ब्याह में शरीक न हो नमाज जनाजा में शरीक न हो कफन दफन में उनके हम शरीक न हो ये सदुल तो शरीय फरमाते हैं कि आज के दौर में लोग इस तरह कहते हैं कि मियाँ जितनी देर इसे काफिर कहोगे इतनी देर अल्लाह अल्लाह करो ये सवाब की बात है यानी कादियानी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कादियानी इन्होंने इस इस तरह कुफर किया और ये ऐसे मरदूद लोग हैं तो सामने से जवाब मिलता है कि उनका जिक्र करने के बजाय तुम ऐसा करो अल्लाह अल्लाह करो इसका जवाब यह है कि हम कब कहते हैं कि काफिर काफिर का वजीफा कर लो यानी कहते हैं हमने कब कहा कि काफिर काफिर की तस्वीर पढ़ो लेकिन मकसद यह है कि जो काफिर है उसे काफिर समझो और पूछा जाए कि ये कौन है काफिर है कि मुसलमान तो इसके काफिर कहने में जर्रा बराबर भी शक का इजहार न करो तामुल ना करो फौरन कहो कि हाँ जो अल्लाह का भी अदब है रसूलुल्लाह का भी अदब है वो काफिर है इसके काफिर होने में क्या शक है बाद लोग इस मौके पर सुलह कुल्ली बनना चाहते हैं सुलह कुल्ली के माना ये होते हैं कि सबसे सुलो हो सबसे बनाकर रखें अगर आप मुनाफिकीन की तारीख को उठाकर देखें तो मुनाफिकीन वो ये चाहते थे कि मुसलमानों से भी इनको सुलो रहे और यहूदियों और मुशरकिन से भी सुलो रहे तो सुलो कुलियत नहीं हो सकती हक जो है वो बयान होगा और जब हक बयान होगा तो जो अहले बातिल हैं वो मुखालफत जरूर करेंगे हदीस पाक में है सतफ्रिको उम्मती सलाजों व सबईन फिर कुल्लुम फिन्नार इल्ला वाशिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि ये उम्मत तिहत्तर फिरकों में बढ़ जाएगी इसमें तिहत्तर फिरके होंगे एक फिरका जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी होंगे ये कौन फरमा रहे हैं प्यारे आपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक तरफ इस हदीस को रखें और ये हदीस इबन माजा में है जो कि इबन माजा सियासिता की किताब में से है और इसी तरह यह हदीस जो है तिरमिजी शरीफ में भी है और तिरमिजी शरीफ भी सिया सित्ता की किताब में से है इबन माजा अबवाबुल फितन में यह हदीस है इबन माजा अबवाबुल फितन हदीस नंबर 3991 और तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2641 अब एक तरफ आप इस हदीस पक को रखें और दूसरी तरफ लोगों की सोच को रखें वो कहते हैं भाई सभी सही हैं यानी जो साहबा कराम के बेअदब हैं और जो बाअदब हैं जो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं जो नहीं मानते जो हजरत ईसा सलाम की वफात के कायल हैं जो हयात के कायल हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के कायल हैं जो नहीं है जो साहबा कराम के बाअदब हैं जो बेअदब हैं जो आक़े तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादब हैं बेअदब हैं वो कहते हैं सभी सही हैं तो सभी सही हरगिज नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमा दिया कि तिहत्तर फ़िरक़े होंगे कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा बाकी सब जहन्नमी होंगे यानी एक फ़िरका नाजी है जन्नती है और बाकी बहत्तर फिरके बिदती होंगे गुमराह होंगे बद अकीदा बद मजहब होंगे मन हम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाजी फिरका कौन है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मा अन अलैहि व असहाबी वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं यानी जिन अकायद पर मैं हूं और जिन अकायद पर मेरे सहाबा हैं उस अकीदे पर जो होगा वो नजात याफ्ता फिर होगा अब आप साहबा कराम रिदवान के मामूल देखें तबर्रुकात की ताजीम तोर करना यह साहब कराम का तरीका है कि नहीं मुंह मुबारक की ताज़ीम तोर करना रसूल की शान बयान करना और हजूर सल्लल्लाहु वसलम की शान में जर्रा बराबर भी कोई कमी करने की कोशिश करे तो जलाल में आ जाना और उस पर नाराज हो जाना यकीन का तरीका है साहब कराम अली की मुरीदवान का यहां तक कि उर्वा बिन मसूद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए किस मौके पर हदेबिया के मकाम पर और ये ताइफ के सबसे मालदार शख्स थे यानी ताइफ में सबसे ज्यादा मालदार आप थे और आप ताइफ के सरदार थे लेकिन काफिर थे ये हजूर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की ताजीम और तोक़ीर का हाल क्या बयान किया इमाम बुखारी रहमा लिखते हैं कि साहबा कराम रिदवान हजूर की इतनी तजीम करते हैं इतनी तजीम करते हैं कि मैं नजाशी के दरबार में गया कैसर रूम के दरबार में मैं किसरा के दरबार में गया बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में अदब करने वाले मैंने देखे लेकिन रसूलुल्लाह की ताजीम जैसी सहाबा करते हैं ऐसा कोई करने वाला नहीं अब आप सोचें कि सहाबा कैसी ताजीम करते होंगे कहा कि अगर वजू करते हैं तो वजू के पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं और वो थूक मुबारक डालते हैं तो जमीन पर वो गिरता नहीं लोग अपने हाथों पर लेते हैं और अपने चेहरे पर और अपने सीने पर मल लेते हैं और जब रसूलुल्लाह कलाम करते हैं तो सर झुकाकर बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और आपके हुक्म को सुनकर फौरन अमल के लिए दौड़ते हैं ये हजरत बिन मसूद रदी अल्लाह हजूर से गुफ्तु कर रहे थे अब आप जरा तस्वुर में रखिएगा कि ये अभी काफिर हैं इस्लाम नहीं लाए और वो अदब व तज़ीम के वो तमाम मामला इन पर लागू नहीं होते ये तो एक काफिर हैं दौरान गुफ्तु इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने पाँव फैला दिए अब देखें साहबा कराम का अदब देखें तो एक सहाबी हालांकि जानते हैं कि ये सफ़ीर हैं और ताइब से आए हैं ताइब के सरदार हैं और मक्के के काफिरों ने इन्हें सफ़ीर बनाकर भेजा है हदयबिया के मकाम पर सुलह करने के लिए आए हैं कि रसूल्लाह को उम्र से रोक दिया गया है तो इस बारे में गुफ्तगु के लिए आए हैं लेकिन सहाबी की बेअदबी बर्दाश्त न कर सके फरमाया पाओ सीधा कर वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा सिर्फ क्या किया रसूल्लाह के सामने उन्होंने पांव फैलाया और वो कौन थे काफिर थे तो ये है अदब और ताजीम का जज्बा जो साहबा कराम में था और आज आपको अदब और तज़ीम अगर नजर आएगी तो वह अहल सुन्नत वाल जमात में नजर आएगी मुंह मुबारक से अदब करना रसूलुल्लाह के रोज़ा अकदस का अदब करना पीठ न होने देना पाओ न करना कुरान का अदब करना कुरान की तरफ पाँव न करना कुरान को जमीन पर न रखना खान काबा की तरफ पाँव न करना रसूलुल्लाह का जिक्र ताज़ीम और मोहब्बत से करना और हजूर की शान ही बयान करना और हर एक से हर उस शख्स से मोहब्बत करना जो रसूलुल्लाह की शान बयान करे ये साहबा कलाम का तरीका था और आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अहल सुन्नत वल जमात में ये तरीका पाया जाता है तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि तिहत्तर फिरके होंगे बहत्तर जहन्नमी होंगे एक जन्नति होगा पूछा मन हम या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे माँ अन अलही वाबी वो उसी अकीदे पर होंगे जिस अकीदे पर मैं हूं और जिस अकीदे पर मेरे सहाबा हैं और दूसरी रिवायत में है फरमाया हुमुल जमा तुम वो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह होगा मुसलमानों का सबसे बड़ा गिरोह होगा अकायद के लिहाज से अब अकायद के लिहाज से आप देख लें पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा गिरोह कौन सा है वो अहल सुन्नत वाल जमात का है मसला पहले सुनत व जमात का यह मामूल है कि मज़ार की तज़ीम करना और वली के मज़ार पर तज़ीम के साथ हाजिर होना आप इराक जाकर देखें शाम जाकर देखें मिस्र जाकर देखें लबनान जाकर देखें पूरी दुनिया के यहां तक कि चीन में और रूस में जाकर देखें हजरत इमाम बुखारी रहमा का मज़ार हो हजरत साद बिन नबी वक़ास का मज़ार हो लोग लाखों की तादाद में बाअदब होकर हाजिरी देते हैं तो मज़ारात पर हाजिर देने वाले पूरी दुनिया में अक्सरियत में हैं और हजूर ने फरमाया कि जो नाजी फिर होगा जो तिहत्तर में से नजात पाने वाला होगा वह मुसलमानों की अक्सरियत होगी अच्छा आपने रसूल सल्लल्लाहु वसलम की बारगाह में हाजिरी दी है तो आप बताइए अहल सुन्नत वल जमात का यकीदा है कि जब मक्के से मदीने जाएं तो मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए नहीं असल तो रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहे हैं और फिर इस दरबार में हाजिरी के जिमन में नमाज पढ़नी है मस्जिद नबी शरीफ में यही अकीदा है दुनिया भर के मुसलमान चाहे वो अरबी हो चाहे अजबी हो चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो वो जब मदीने जाता है तो उसकी नीयत यही होती है मैं प्यारे आका के दरबार में हाजिर होने के लिए जा रहा हूं तो ये अहल सुनत वल जमात का अकीदा है और इसके बरक्स जो अकीदा है वो ये है कि अगर मदीने में हाजिर हों और अकीदा ये हो कि हम हजूर की बारगाह में हाजिर होने के लिए आए हैं तो ऐसा शख्स मुशरक है काफिर है मुर्तत है बताइए ऐसे अकीदे रखने वाले क्या मुसलमानों में अक्सर हैं नहीं अक्सर होगी हैं जो हुजूर की बारगाह में हाजिर होने का अकीदा रखते हैं फिर आप देखें अयाम मनाना बरसी करना तीजा करना चालीसवा करना बारहवीं शरीफ मनाना मौलूद शरीफ मनाना बुजुर्गान दीन के उर्स मनाना सलात सलाम पढ़ना इश्क मोहब्बत के जितने इजहार अहल सुन्नत और जमात में पाए जाते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर ये इजहार पाए जाते हैं यहाँ तक के आज सऊदी अरब के अंदर भी अहले सुन्नत वाल जमात की अक्सरियत है ये ठीक है कि अंग्रेजों ने जब सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया और इन दो डाकुओं से ये दो डाकू गिरोह थे एक आल शेख और एक आल सऊद ये दोनों डाकाजनी किया करते थे तो इन डाकुओं के इन गिरोह को जब मकई मुकरमा मदीना मुनवरा की गवर्नमेंट दी तो इन्होंने ये माह किया था कि हुकूमत आल सऊद के पास रहेगी और मजहबी मामला आल शेख यानी मोहम्मद बिन अब्दुलवाहाब वहाब नजदी के पास रहेंगे सख्तियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन इतनी सख्तियों के बावजूद अगर आप वहां अरबों से मिलें और आपको अरबी आती हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रबालमीन पिचानवे फीसद सऊदी अरब में रहने वाले जो वाकई मक्के के और मदीने के रहने वाले हैं वो आज भी अहल सुन्नत वल जमा से ताल्लुक़ रखते हैं और जब से सऊदी गवर्नमेंट से ये इजाज़त मिल गई कि आप अपने बंगले में अपने महल में अपने अपने घर में महफिल मौलूद शरीफ महफिल मिलाद रख सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सऊदी अरब में जुमेरात को महल्ले महल्ले में महफिल मौलूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मुनद की जाती है और हम भी जब हाजिर हुए तो कई जो है अरबों के यहाँ पर महफिल मौलूद शरीफ में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ लेकिन आप जानते हैं कि जहां पर बादशाहत हो आमरीत हो मार्शल्ला हो और जहां पर बात करने पर गर्दन उड़ा दी जाती हो तो वहां पर बहुत सारे मामलात इश्क मोहब्बत के मामलात करने पर पाबंदियां हैं लेकिन किसी के अकायद और नजरियात को इंसान चेंज नहीं कर सकता तो मालूम यह हुआ कि इन तिहत्तर फिरकों में से जो फिरका जन्नती है उसकी दो निशानियां हैं एक तो ये कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होंगे मुसलमानों में और दूसरी बात ये होगी कि वो सहाबा कराम और हजूर के अकायद वाले होंगे जिस तरह सहाबा हजूर की तज़ीम और तोखीर और मोहब्बत किया करते और इशा फरमाया जो इससे अलग हुआ जहन्नम में वो जा गिरा तो अहले सुन्नत वल जमात से हटना जहन्नम में जाना है इसी वजह से इस नाजी फिरके का नाम अहले सुन्नत व जमात है अहल सुन्नत व जमात लेकिन ये चूंकि अहल सुन्नत पर जमात अहले हक है तो आखिरकार लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने आप को अहल सुन्नत वल जमात कहना शुरू कर दिया हालांकि उनका अहल सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं आपको हैरत होगी कि वो सऊदी अरब के नजदीक पहले अपने आप को नजदी लिखते थे और किताबें वो जो शाया करते थे लेकिन जब ये देखा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत अहल सुन्नत वाल जमात से ताल्लुक रखती है तब सऊदी अरब से जो नजदी किताबें जो शाया करते हैं उस पर लिखा होता है अहल सुन्नत वाल जमात लोगों को धोखा देने के लिए तो नजदी भी अपने आप को अहल सुन्नत वाल जमात कहते हैं हालांकि इनका अहल सुन्नत वाल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है इनका झूठ मूठ अहल सुन्नत वाल जमात कहना बार बार ये इस बात की दलील है कि अहले सुनत जमात हक फिरका है वो भी मानते हैं तो सिर्फ नाम लेने से क्या फायदा है मुसलमानों की जो अक्सरियत का अकीदा है उस अकीदे पर तुम भी आ जाओ तो तुम भी अहले सुनत जमात में बन जाओगे सिर्फ नाम बदलने से तो इंसान जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक तो नहीं होता इन गुमराह फिरकों में से बहुत से पैदा होकर खत्म हो गए बास हिंदुस्तान में नहीं इन फिरकों के जिक्र की हमें क्या हाजत कि ना वो हैं ना उनका फितना फिर इनके तस्करे से क्या मतलब देश हिंदुस्तान में है मुख्तसरा इनके अकायद का जिक्र किया जाता है कि हमारे आवाम भाई इनके फ्रेब में न आए कि हदीस में इशात होता है व ईया कुम व ईया तुम इन बदअीदा लोगों से दूर रहो वो तुमसे दूर रहें यानी भागो इनसे दूर ला युदिल्लू नकुम वला यफ्तिनू नकुम कि कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें और कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें तो इनसे दूर भागने का हुक्म किसने दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है तो बहुत सारे फ़िरक़े इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन अगर हम खुलासा करें कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अहले सुन्नत वल जमात से हटकर जो फ़िरक़े मौजूद हैं उनको अगर हम यूं डिवाइड कर दें यूं तो बहुत सारे नाम हैं बहुत सारी शख्सियतें हैं लेकिन अगर हम उनको डिवाइड करें तो यूं समझें कि एक फ़िरका ऐसा है कि सहाबा की बेअदबी करना उसका शियार है एक फिर वो है कि जो रसूल्लाह का बेअदब गुस्ताख है लेकिन उस पर वो पर्दा तो तोहीद का डालता है और वो हजूर की ताजीम से रोकने का यह तरीका इख्तियार करता है कि जो भी ताजीम का मामला हो उसे या तो शिरक कहता है या बिदत कहता है यानी डायरेक्ट ताजीम से नहीं रोकता बल्कि तरीक़ाकार क्या है कि ताजीम की जो भी बात होगी वो कहेगा ये शिरक है या बिदत है ये दो काम से नीचे कोई बात नहीं होगी शिरक या बिदत तो दो तरह के फिरके हो गए एक तो वो जो साहबा कराम का बेअदब गुस्ताख है दूसरा वो जो रसूलुल्लाह का बेअदब गुस्ताख है लेकिन मॉडर्न जमाने में बड़ा समझदार हो चुका है डायरेक्ट बेअदबी नहीं करता बल्कि बड़ी टेक्निक से हम भी रसूलुल्लाह से प्यार रखते हैं हम भी रसूलुल्लाह के आशिक हैं हमें भी रसूलुल्लाह से प्यार है बस हम ये कहते हैं शिरक नहीं होना चाहिए बिदत नहीं होनी चाहिए हम तो आपको शिरक से रोकते हैं बिदत से रोकते हैं अच्छा भाई शिरक क्या है बिदत क्या है अगर पूरी उसकी आप लिस्ट निकालें तो उस लिस्ट को अगर आप एक लफ्ज में बयान करना चाहें तो इनके नजदीक रसूलुल्लाह की ताजीम और तोकीर के जितने मामलात हैं या तो शिरक हैं या बिदत यह है शिरक बिदत की तारीफ यानी शिरक और बिदत का नाम लेकर वो असल में रसूलुल्लाह की ताजीम और तोफ़ी से रोकना चाहते हैं ये तो दो गिरोह हो गए तीसरा जो गिरोह है जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है और ये बहुत बड़ा फितना है वो फितनाए जदीदियत है फितनाए जदीदियत इसके माना यह है कि जिद्दत पैदा की जाए क्या पैदा की जाए जिद्दत पैदा की जाए और जिद्दत के माना यह है कि इजतिहाद किया जाए इजतिहाद के माना क्या है भाई कुरान और हदीस पर तहकीकत हों तो इजतहाद के तो हम भी कायल हैं कि कुरान और हदीस पर तहकीकत होनी चाहिए लेकिन इनके नज़दीक इश्तिहाद के माना यह है कि जो हराम चीज़ें हैं उसको हलाल कर दो जो नाजायज़ है उसको जायज़ करार दो दीन में आसानी दे दो छूट दे दो उनसे कोई पूछे दाढ़ी रखना क्या है तो कहेंगे दाढ़ी ये असल में कोई सुन्नत नहीं है हमने कहा भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी शरीफ रखी हाँ ये बात आपने सही पूछा रसूलुल्लाह ने दाढ़ी शरीफ रखी मगर ये उस जमाने का कल्चर था तो हुजूर ने कल्चर के वाइस रखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के तौर पर दाढ़ी नहीं रखी ये उस जमाने का कल्चर था अगर उस जमाने में अगर दाढ़ी मुंडाने का कल्चर था तो बिल्ला हजूर भी दाढ़ी मुंडा लेते ये ऐसी बकवास वो करते हैं यानी उन्होंने क्या किया उन्होंने हर चीज की डेफिनेशन का बेड़ा गर्क कर दिया मैंने आपको इससे पहले भी अर्ज किया था कि अगर आप सिस्टम खराब कर दें तो फिर कितनी भी मेहनत करें रिजल्ट सही नहीं आता अगर आपका कंप्यूटर खराब हो आपका कैलकुलेटर जो है उसमें ये सेटिंग है कि आप टू प्लस टू करते हैं तो फोर आता है जवाब लेकिन अंदर के जो उसूल हैं जो अंदर की सेटिंग है वो खराब हो तो टू प्लस टू करें तो कभी भी फोर जवाब नहीं आएगी तो उन्होंने क्या किया कि कुरान और हदीस के उसूल पर जरब लगाई सुन्नत के माना क्या है पूरी दुनिया यह समझती रही कि सुन्नत के माना यह है सहाबा ने यही समझा ताबईन ने यह समझा तब ताबईन ने यह समझा अलिया कामिलीन ने यह समझा आयम मुश्तहिदीन ने यह समझा चौदह सौ साल तक लोग यही समझते रहे कि सुन्नत के माना यह है कि रसूलुल्लाह ने जो काम किया जिस काम के मुतालिक रसूलुल्लाह ने बयान किया और रसूलुल्लाह के सामने जो काम किया गया और आपने मना नहीं किया या मना किया तो ये सारी बातें सुन्नत में दाखिल हैं यानी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से मना कर दें तो सुन्नत से साबित हुआ कि ये काम करना मना है साहबा ने हुजूर के सामने कोई काम किया और आपने खामोशी इख्तियार की तो सुन्नत से साबित हुआ कि यह काम करना जायज है और हुजूर ने मना नहीं किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो फेली सुन्नत बन गई और जो आपने इशाद फरमाया वो कौली सुन्नत बन गई और जिस काम को आपने देखा और खामोशी इख्तियार की उसे तकरीरी सुन्नत कहते हैं तो सुन्नत की कितनी किस्में हो गई तीन एक कौन सी हो गई कौली एक फेली और तीसरी तकरीरी अब उन्होंने क्या किया कि हम सुन्नत के मुखालिफ नहीं ये कहकर सुन्नत की डेफिनेशन को बदल दी तो सुन्नत की डेफिनेशन क्या है सुन्नत की डेफिनेशन ये है इनके नजदीक कि जैसे इस वक्त हमारे माशरे के अंदर जमहूरियत चल रही है और एक मुल्क कानून है और एक पूरी दुनिया में एक निज़ाम चल रहा है जैसे मिसाल के तौर पर नोट है और ये कागज का नोट चल रहा है इसका चलन है बहुत सारे गुना किए जा रहे हैं तो जो हमारे इस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं तो ये कहते हैं कि हजूर सल्ला अलैहि वसल्लम के दौर में जो माशरे की तश्कील थी उस वक्त से लेकर अब तक जो जो तब्दीलियां हुई सब सुन्नत हैं तो अब ये कहते हैं दाढ़ी मुंडाना सुन्नत है नवजुबिल्ला में और इसकी दलील क्या देते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि ने दाढ़ी तो कल्चर वाइज रखी अगर उस दौर में दाढ़ी मुंडाने का कल्चर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवजुबिल्ला में क्लीन शेव हो जाते तो बस तफरल्ला क्या बात कही इकबाल ने डॉक्टर इकबाल की सोच पर कुर्बान जाए आपने ऐसे ही मौलवियों के मुतालिक का ऐसे ही मुल्लाओं के मुतालिक का और अब जरा समझ जाइएगा कि अब मुल्ला जरा दूसरी शक्ल में आने लगे हैं क्लीन शेव खशखशी दाढ़ी वाले नंगे सर वाले टाई पतलून पहनने वाले औरतों के साथ बैठने वाले बेपर्दा औरतों के साथ तालियां मारने वाले सीटियां बजाने वाले म्यूजिक के साथ तस्वुफ और खौफ खुदा पर दर्स कुरान देने वाले यानी जदीद किस्म के मुल्ला और आज अमेरिका यही चाहता है कि ऐसे ही मुल्ला मस्जिद में नमाज पढ़ाएं और ऐसे ही दाढ़ी मुंडे मुल्ला जो हैं वो हर जगह पर फाइज हो जाएं तो अब ये जदीद किस्म के जो मुल्ला हैं इन्होंने हर चीज का तस्वुर बदलने की कोशिश की ये जो डॉक्टर इकबाल हैं अलग रहमा उन्होंने तो पहले ही कह दिया ऐसे ही जदीद मुल्लाओं के बारे में कहा खुद बदलते नहीं क़ुरआ को बदलते हैं खुद नहीं सुधरना कुरान के बात को बदल देना तो ये तीन फितने हो गए अब आप कहेंगे आपने कादियानी का जिक्र तो नहीं किया तो अगर आप कादियानी को देखें तो कादियानी ये गुस्ताख साहबा भी हैं और कादियानी गुस्ताख रसूल भी हैं लेकिन अगर इसको आप फिट करना चाहें तो ये फितनाए जदीदियत के अंदर है कादियानी किस में है फितनाए जदीदियत में है फितनाए जदीदियत का माना यह होता है कि कुरान के हर लफ्ज का नया माना करें तो उन्होंने खातम नबीन का माना था आखिरी नबी इन्होंने नया माना पेश किया अफजल नबी अब कोई बाद में भी नबी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता खातम नबीन का मतलब अफजल नबी जैसे आगा खानी वो अकीम उसलाह का तर्जमा करते हैं दुआ मांगा करो और वह आत जका का तर्जमा करते हैं दिल को साफ रखा करो तो जब उन्होंने तर्जमा ही बदल दिया तो जक़ात का कॉन्सेप्ट गया नमाज का कॉन्सेप्ट गया तो ये आगा खानी और इसी तरह ये परवेजी और ये कादियानी ये भी फितनाई जदीदियत में आते हैं तो ये तीन किस्म के लोग हुए तो आइए हम पहले उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जो क्योंकि कादियानियों का जिक्र तो हम पिछली नशीस में अच्छी तरह कर चुके हैं और उनके चंद अकायद आपको बयान किए हकीकत यह है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबें अगर कोई शख्स पढ़े और उसके सिर्फ हवाले पढ़े तो हैरत होती है कि इसको लोगों ने नबी मान कैसे लिया यानी इसको मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं मानना चाहिए इसकी जो हरकतें और जो इसकी बातें ऐसी गंदी गंदी बातें इसने लिखी हैं कि वो हम किसी के सामने पढ़कर सुना नहीं सकते लेकिन चूंकि इसकी किताबें जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं और तीस बड़ी बड़ी जिल्दों पर रूहानी खजाइन के नाम से हैं आम जो कादियानी है वो ये तीस जिल्दें नहीं पढ़ता और उसको पता भी नहीं होता मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या लिखा है तो आम कादियानी वैसे भी आप देखें आमतौर पर लोगों का मुताला करने का इतना शौक नहीं रहा तो वो तीस जिल्दें पढ़ता तो नहीं है तो वो क्या करते हैं कि उसमें से जो चीज उनके मकसद की है और मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक वो जाहिर करते हैं मसलन फी जमाना वो उस किताबों में से सिर्फ वो लेते हैं जिसमें उसने रसूलुल्लाह सल्ला वसलम की शान बयान की है लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके कि रसूल्ला की शान इसने लिखी है उस वक्त जब इसने नबूवत का दावा नहीं किया था तो जो दूसरा गिरोह है कि वो साहबा कराम का बेअदब गुस्ताख है उसे राफजी कहते हैं शिया कहते हैं अहल तशी कहते हैं इसके कई फिरके हैं आगा खानियों का भी ताल्लुक इससे है इसी तरह बोहरियों का ताल्लुक भी इसी फिर से है और आगा खानी इसमाइली कहलाते हैं कुछ इसमें इसना अशरी कहलाते हैं तो अहले तशी नाम सुने इसना अशरी सुने आगा खानी सुने बोहरी सुने ये सब रावजी और शिया के फिरके हैं इनकी मुकम्मल तफसील आप जानना चाहें शेख अब्दुल अजीज मुहदस दहलवी रहमतुल्ला ताली की किताब है तोहफा इसना आशरिया तोहफा इसना आशरिया लेकिन मसला पता है क्या है मसला बड़ा पेचीदा है मसला ये है कि कादियानी हो शिया हों देवबंदी हो वहाबी हों या फितनाई जदीदियत वाले हों किसी को भी आप अगर उनकी किताब का हवाला देते हैं तो जिस जिस किताब की जिस जिस तहरीर पर मुसलमानों ने एतराजात किए उन्होंने वो किताबें बैकग्राउंड में डाल दी अब ये किताबें मौजूद तो हैं लेकिन आमतौर पर लोग उन किताबों के नाम नहीं जानते मगर मिसाल के तौर पर आप किसी अहले तशी से ये कहें कि भाई तुम्हारी फला फला किताब में ये लिखा हुआ है कि कुरान पाक के चालीस पारे थे और दस पारे हजरत उस्मान गनी की बकरी खा गई तो उसे उस किताब का नाम भी नहीं पता होगा तो वो ये कहेगा कि भाई मैं नहीं जानता हमारा ये अकीदा नहीं है हमारा ये अकीदा नहीं है बल्कि वो ये भी कह देगा कि जिसका ये अकीदा है वो काफिर है जिसका ये अकीदा है वो काफिर है लेकिन इसमें बात पूरी नहीं होती बात यह होगी कि वो किताब आप लें कोई आलिम वो किताब ले और वो किताब उनके सामने रखे और कहे देखो तुम्हारे इतने बड़े आलिम ने यह बात लिखी है और उस आलिम की अकीदत उसके दिल में मौजूद हो अब अगर वो ये कहे कि हाँ मेरे दिल में पहले अकीदत थी अब मुझे पता चल गया अब मैं इसे काफिर मानता हूं यह बड़ा मुश्किल काम है तो वो काफिर कह रहा है क्यों कह रहा है उसका यह ख्याल है कि ये सुन्नी झूठ बोल रहा है तो इसलिए कह रहा है कि यह काफिर है लेकिन मजा कब आएगा कि ये इतने बड़े इनके आलिम की किताब उसके सामने हो और कहा जाए देखे ये आलिम ने किताब लिखी है अब आप बताइए इसके बारे में क्या हुक्म है वो कहे कि पहले मैं इसका बड़ा मोतकद था बड़ी अकीदत रखता था लेकिन अब चूने ये अब चूंकि उसने ये बात लिखी है और वाकई ये इसकी किताब है तो मैं इसको काफिर मानता हूं इसे मुरतद मानता हूं इसने कुरान की तोहन की है लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है वो पता ही क्या कहेगा नहीं हजरत साहब इसका ये मतलब नहीं है इसका मतलब कुछ और होगा हमारे इतने बड़े हजरत जी हैं तो वो ऐसी बात कैसे लिख सकते हैं ये कोई तहकीकी और अंदर की बात होगी जो ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं और ये मैं आपको हवाई फजाई बातें नहीं कर रहा ऐसे कई तजर्बात हमारे हो चुके हैं कि वो फिर उन उन तहरीरात की तावीलात करते हैं और यही हाल कादियानियों का है और यही हाल तमाम जो है गुमराह फिरकों का ताल्लुक है तो तोहफा इसना अशरिया शेख अब्दुल अजीज मोहदिस से रहमतुल्लाह ताला ने किताब लिखी है ऐसी किताब है कि कई साल गुजर गए तकरीबन 200 साल गुजर गए लेकिन अहले तशी में से किसी की ताकत नहीं है कि वो इस किताब का जवाब दे सके उसमें से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं साहब कराम अलीम रिजवान की शान में ये फ़िरका नहायत गुस्ताख है यहां तक कि उन्हें गालियां देना इसका आम शेवा है बल्कि चंद साहब कराम के अलावा बाकी तमाम साहब कराम को ये फिर मुनाफिक और काफिर मानता है ये जो इन्होंने बात लिखी है ये तो खुद हमारा अपना मुशाह भी है बल्कि एक दफ़ा साहब कराम इंटरनेट पर एक सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर ऐसा था कि रूम बने हुए थे तो एक रूम था इस्लामिक इंफॉर्मेशन तो मैं इस रूम में इंटर हुआ मैंने कहा देखें इस्लामिक इंफॉर्मेशन पर क्या बात हो रही है तो एक कह रहा था और उस वक्त उसके सुनने वाले तकरीबन बीस थे एक कहने वाला कह रहा था कि जो अहले बैत के दुश्मन हैं आओ हम सब उस पर लानत करें तो उसने कहा कि अहले बैत के दुश्मनों पर अल्लाह की लानत हो फिर उसके बाद जितने वो मेंबर थे सब लिखने लगे अहर बैत के दुश्मन पर अल्लाह की लानत हो ये बीस के बीस जो मेंबर थे सब ने ये मैसेज जो है उस पर किए इसके बाद कहा कि ये तो हमने इजमाली लानत की है यानी नाम लिए बगैर अब हम नाम ले लेकर लानत करेंगे फिर उन्होंने कहा सबसे पहले सबसे पहले उन्होंने सिद्दीक अकबर का नाम लिया फिर उम्र फारूक का फिर हजरत उस्मान गनी का हजरत अमीर माविया का यानी एक मोमिन ऐसी बात सुनने की जो कि ताप नहीं रखता ये हमने अपने कानों से सुना कोटरी में और रोड़ी के पास एक महफिल होती है महफिल लान तान सात मुहर्रम हराम और उस महफिल को इनके मजहब में बड़ा दर्जा हासिल है उस महफिल में होता ही यही है कि साहबा कराम को गंदी गंदी गालियां दी जाती है इस इस महफिल का नाम यही अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इतिहाद उम्मत का इतिहाद अपनी जगह इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है वह अपनी जगह लेकिन सिर्फ ये पूछता हूं कि जो आपके बाप का नाम लेकर गाली दे उससे आप हाथ मिला सकते हैं आप उससे गले मिल सकते हैं आप उससे मोहब्बत के ताल्लुक रख सकते हैं आप उसे अपने ऑफिस में नौकर रख सकते हैं आप उसे अपने घर में नौकर रख सकते हैं आप उसे तोहफा तहिफ का सिलसिला रख सकते हैं कैसे हो सकता है यार तो ये जो अहल तशी हैं इनके मजहब की बुनियाद सिर्फ इसी पर है ये साहबा कराम के तो खुलेआम बेअदब है हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर के बारे में तो बेअदबी करने में इधर आगे पीछे देख लेते हैं कोई सुननी हो तो उसके सामने नहीं करते तकिया करते हैं झूठ बोलते नहीं हम उनकी बेद भी नहीं करते लेकिन इनकी किताबों में हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर हजरत उस्मान गनी पर लान तान तो लिखा हुआ है एतराजात लिखे हुए हैं भरमार पड़ी हुई लेकिन हजरत अमीर माविया हजरत अबू सुफियान हजरत हिंदा ये भी तीनों साहबी हैं इनके बारे में तो शिया लान तान करने में और गालियां देने में जर्रा बराबर भी कोई वो तामुल नहीं करते हजरत अमीर माविया को तो ये मुनाफिक लिखते हैं काफिर लिखते हैं और ना जाने क्या कुछ नहीं लिखते और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहा को भी गालियां देने में ये कोई भी तामुल नहीं करते अब आपकी मर्जी है अगर कल बरोज क्यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के हौज कौसर पर हजूर के दस्ते मुबारक से जाम कौसर पीना है तो फिर साहब करम के बेअदब से दूर हो जाइए अपने बच्चों को दूर करें उनके हाथ का इंसान खाना कैसे खा सकता है ऐसी होटलों में इंसान कैसे जा सकता है कि उस खाने पर हाथ लगे हों गुस्ताखिर साहबा के अल्लाह अकबर कबीरा एक हदीस हदीस मैंने पढ़ी थी कि हजरत अली रदी अल्लाह तु फरमाते हैं कि कल बरोज क़यामत जब हौज कौसर पर हौज कौसर पर लोग आएंगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि फरमाएंगे ए अली तू खड़ा हो जा जो तुझसे बुग्ज रखता है मेरी मुझे निशानदही कर हालांकि हजूर जानते हैं मैं उसे हौज कौसर नहीं पिलाऊंगा तो हजरत अली फरमाते हैं जो सिद्दीक अकबर और हजरत उमर से बुग्ज रखेगा मैं उसे हौज कौसर पीने नहीं दूंगा तो फिर बात ही खत्म हो गई जब हौज कौसर नहीं मिलेगा शफात नहीं मिलेगी तो ऐसे लोगों से इंसान अपने आप को दूर रखे कि आग जल रही होती है ना तो आग के करीब जाते हैं तो उसकी चिंगारियां उसकी गर्मी महसूस होती है तो जिसके दिल में सहाबा का बुग्ज होगा उसके करीब जाएंगे तो उसके बुरे असरात आपके दिल पर जरूर आएंगे हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर हजरत उस्मान गनी ये तीनों के बारे में ये फिरका ये कहता है कि इनकी जो खिलाफत रास्ता है इसको ये कहता है इन्होंने जुल्म करके गसब कर ली हुकूमत और ये पता है कैसी रिवायतें सुनाता है अब मैं आपको क्या सुनाऊं इनकी किताबों में ऐसी ऐसी सहाबाई कराम के बारे में मन घड़त रिवायतें लिखी हैं मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं जो इनकी हर किताब में लिखी हुई और हर शिया उस उस रिवायत को पढ़ता है वो रिवायत ये है कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु सबसे बैठ ले रहे थे कहा क्या बात है अली नजर नहीं आते हजरत उमर उठे हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में कोड़ा लेकर हजरत फातमा तो जहरा के घर पर गए दरवाजे पे जोर जोर से जो दस्तक दी दरवाजा पीटना शुरू कर दिया हजरत फातिमा कहती हैं क्या काम है कहा अली कहाँ है हजरत फातिमा तोरिया करती हैं वो कहती हैं अली तो बाहर गए थे वो कहते हैं निकालो घर से हजरत अली घर में छुपे हुए हैं हम कहते हैं हजरत अली शेर खुदा है और इन्होंने हजरत अली को किस तरह शो किया आप देखें कि हजरत उमर की भी करने जा रहे हैं दर हकीकत तो हजरत अली की तोइन कर रहे कहते हजरत अली छुपे हुए हैं और ये कहते हैं हजरत अली को निकालो बाहर वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा हजरत फातिमा वास्ते देती हैं वो नहीं मानते तो कहते हैं वो तमाम नौजवानों को जमा करते हैं कहते हैं घर को आग लगा दो तो हजरत फातिमा दरवाजा खोल देती हैं फिर ऐसे गंदे गंदे अल्फाज हैं लेकिन यानी मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको सुनाऊं लेकिन सिर्फ ये सुनाने का मकसद ये है कि इंतजार इन्होंने फैलाया हमने नहीं फैलाया हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि साहबा कराम की मोहब्बत में ऐसे लोगों से दूर हो जाओ बस हम कोई जंग करने या मार धाड़ की बात नहीं कर रहे लेकिन आप बताइए कि हमारे बाप को कोई गाली दे और फिर आराम से बैठ जाए हमें गुस्सा आए दुनिया कहे जनाब गुस्से में क्यों आ रहे हो देखो ये तो आराम से बैठा हुआ है तो हम कहेंगे हमारे बाप को गाली दी है भाई तो इन्होंने गाली से बढ़कर बात की है वो हजरत उमर के जिनके मुतालिक हजूर सल्लाह वसलम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते उनके मुतालिक ऐसी गलीस बातें लिखें कि दरवाजा खुला तो हजरत फातमा तो जहरा का दुपट्टा खींच लिया इनके बाल खींच कर इनको मारने लगे और इनके पाँव पर अपने पाओ से हजरत फातमा तो जहरा के पेट पर इतनी जरबे माली कि आप हामिला थी तो बच्चा गिर गया नऊजबिल्ला हमें जाले और फिर घर में घुस गए हजरत अली को घसीटते हुए ले गए और मारते हुए कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर की बैत करो वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा तुम्हारे घर को जला दूंगा तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा तो हजरत अली ने डरते हुए और खाइफ होकर अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी बीवी को बचाने के लिए आपने भी डरते हुए सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैत कर ली ये फलसफा पेश कर रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि हजरत अली ने वो डरते हुए अपनी जान के खौफ से बैत की लेकिन सोचते नहीं है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु ने एक फासिक यजीद के हाथ पर बैत नहीं की अपनी जान भी निछावर की अपना सारा कुम्मा निछावर कर दिया तो हजरत अली जो इमाम हुसैन के वालिद हैं वह ऐसी बुजदली कैसे दिखा सकते हैं अगर सिद्दीक अकबर गलत होते हजरत उमर गलत होते हजरत उस्मान गनी गलत होते तो कभी हजरत अली बैत ना करते जान दे देते और ये तो गलत नहीं मानते ये तो काफिर मानते हैं तो बताइए काफिर की बैत हजरत अली कभी कर सकते हैं नवजुबिल्ला मिजाल फिर ये का ये कहता है कि हजरत अली ने जो इनके फजाइल बयान किए जब हजरत अली ने सारी जिंदगी मिम्बर रसूल पर बैठकर सिद्दीक अकबर हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी के जो फजाइल बयान किए और जो आपने बैत की ये सब बुजदिली की वजह से था तकियतन आपने किया अपनी जान को बचाने के लिए आपने झूठ मूठ ऐसा किया अब सोचें कि हजरत अली तो उन साहबा में से हैं कि जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए तो क्या ये ऐसी बुजदिली दिखा सकते हैं और फिर सवाल जब ये पूछा जाता है कि हजरत अली ने अपनी बेटी हजरत उमर के निकाह में क्यों दी हजरत अली की एक बेटी किन के निकाह में थी हजरत उमर के निकाह में ये मानते हैं कि हजरत अली ने एक बेटी हजरत उमर के निकाह में दी तो कहते हैं डरते हुए तकीयतन दी थी तो आप आप बताइए कि इंसान किसी से कितना भी डरता हो किसी काफिर के निकाह में अपनी बेटी दे सकता है हर किस नहीं दे सकता तो हजरत अली तो शेर खुदा है हकीकता देखा जाए तो हजरत अली को शेर खुदा सिर्फ अहल सुन्नत व जमात मानते हैं हमारा ये अकीदा है कि अगर सिद्दीक अकबर हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी की खिलाफत में अगर शरीयत से हटकर एक बाल मुबारक भी फर्क होता एक बाल के बराबर भी फर्क होता हजरत अली हरगिज बैत ना करते ये तो वो साहबा हैं कि जिनके मुतालिक कुरान ने फरमाया ला यखापुन अल्लामत ये ऐसे जरूरतमंद है कि किसी मलामत करने वाले की मलामत का वो जर्रा बराबर भी खौफ नहीं करते तो वो क्या इन बातों से डरेंगे फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तुम को यहूदी कहते हैं बाज ये बाज मुनाफिक कहते हैं बाज काफिर कहते हैं जालिम फासिक कहते हैं और कहते हैं ये हजूर के दौर से ही मुनाफिक थे नवजुबिल्लाजाले और काफिर थे हजूर भी जानते थे तो फिर हमने कहा फिर ये बताइए हजूर सल्ला अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां निकाह में क्यों दी तो कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि ने देखा कि इनका माल बहुत ज्यादा है हजरत उस्मान गनी का और उनके माल की रसूलुल्लाह को इस्लाम को जरूरत थी इसलिए हजूर सल्ला अलैहि ने यह बर्ताव किया कितने अफसोस की बात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने जब ऐलान नबूत फरमाया तो काफरों ने सोने चांदी का ढेर कर दिया और कहा कि ठीक है आपका जो भी अकीदा है आप सिर्फ ये करें कि बाजार में खड़े होकर हमारे बुतों को बुरा ना कहें बस हम आपको पूरे अरब का बादशाह बना देंगे सोने चांदी के ढेर लगा देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू तालिब ने यह कहा कि ए मेरे भतीजे ये सिर्फ इसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुखालिफत करें कोई बात नहीं लेकिन सरेआम मत किया करें इससे हमें बड़ी तकलीफ होती है तो प्यारे आका ने क्या फरमाया ए मेरे चचा ये मेरे सीधे हाथ में सूरज रख दें दूसरे हाथ में चांद रख दें फिर भी मैं हक बात कहना नहीं छोड़ूंगा तो आपने सोने चांदी और अरब की बादशाहत की परवाह ना की तो अगर उस्मान गनी रदी अल्लाह तु में जरा भी मामला होता तो फिर हुजूर कैसे अपनी बेटी देते हजरत इमाम आजम अबू अनीबा रदी अल्लाह तु के पड़ोस में ऐसा ही एक शख्स रहता था जो हजरत उस्मान गनी को यहूदी कहता था नवजुबिल्ला तो हजरत इमाम आजम जो कूफे में रहते थे एक दिन आपको मालूम यह हुआ कि ये अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़ा परेशान है इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का अच्छा कोई रिश्ता हो जाए तो आपने इसको बुलाया और कहा कि तेरी बेटी के लिए एक रिश्ता है तो कहने लगा लड़का कैसा है आपने कहा बड़ा ही मालदार है बड़ा ही नमाजी भी है तहजद गुजार भी है कुरान भी कसरत से पढ़ता है यानी जो हजरत उस्मान गनी के औसाफ थे सारे बयान किए और उसका चेहरा भी बड़ा नूरानी है खूबसूरत है माल भी बहुत है और माल अल्लाह की राह में भी बहुत देता है तो कहने लगा हजरत फिर ताखिर किस बात की जल्दी से रिश्ता भेज दीजिए तो आपने बना बस मसला ये है कि वो यहूदी है ये सुनना था तो ये भड़क उठा कहने लगा अल्लाह वाला खुवत बिल्ला शैतान रजीम आप हमारे साथ मजाक करते हैं आप सुन्नियों के इमाम होकर हमारे साथ मजाक करते हैं आपको शर्म करनी चाहिए आप एक यहूदी के रिश्ते की बात करते हैं मेरी बेटी जवान होकर बूढ़ी होकर मर जाए मैं मर जाऊं फिर भी किसी यहूदी को रिश्ता नहीं दूं तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने तो अपनी दो बेटियां दे दी थी क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने तो दो बेटियां दे दी थी एक दी उनका इंतकाल हो गया दूसरी दी उनका इंतकाल हुआ तो फरमाया अगर मेरी सौ बेटियां होती एक देता दूसरी देता दूसरी का इंतकाल होता तीसरी देता यहां तक कि सौ का सौ इंतकाल हो जाता मैं हजरत उस्मान गनी को अपनी बेटियां देता ही रहता तो वो रो पड़ा और कहने लगा मैं तौबा करता हूं कि जब एक आम इंसान नहीं दे सकता तो रसूलुल्लाह कैसे दे सकते हैं तो ये दर हकीकत जो उस्मान गनी की तोहिन करते हैं वो उस्मान गनी की तोहिन नहीं कर रहे वो हजरत अली की तोहन कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह की तोहन और बेअदबी कर रहे हैं इसी तरह सिद्दीक अकबर और, और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तु की बेटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के निका में थी अगर इनके ईमान में कुछ फर्क होता तो क्या रसूल्ला उनकी बेटियां लेते इस तरह सबसे जो बुनियादी जो इनका मसला जाहिर है वो है साहबा कराम की बेअदबी लेकिन मैंने अर्ज कर दिया कि साहबा कराम की बेअदबी तो आड़ है असल तो ये हजरत अली के भी बेअदब है अहल बैत के भी बेअदब है और रसूलुल्लाह के भी बेअदब हैं और अल्लाह के भी बेअदब हैं जो कि इनकी किताबों में बातें मौजूद हैं मसला इनका अकीदा यह है कि अल्लाह तबारा का बताल पर वाजिब है ज़रूरी है कि बंदों के लिए वही काम करे जो बंदे के लिए फ़ायदेमंद है और हमारा अकीदा क्या है अल्लाह पर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है बंदे के नफे के लिए काम करना अल्लाह पर कोई वाजिब नहीं है अल्लाह कदर मुतलक है मालिक हकीकी है कोई जोर जबर उस पर नहीं हो सकता उस पर कोई चीज वाजिब जरूरी नहीं वो चाहे तो जन्नत अता फरमाए वो चाहे तो जहन्नम अता फरमाए हाँ ये उसका वादा है कि मुसलमानों को जन्नत देगा और काफरों को जहन्नम देगा ये उसकी मर्जी और मशीयत है लेकिन उसके जिम्मे पर कोई वाजिब या फर्ज नहीं है फर्ज और वाजिब तो हम बंदों पर होता है क्योंकि हम मखलूक हैं हम आजिज हैं रब्बुल आलमीन पर कोई चीज लाजमी नहीं तस्वुर की जा सकती तो उन्होंने अल्लाह तबारक व ताली के इख्तियार को भी महदूद माना बल्कि हमारा ये अकीदा है कि हर फेल का खालिक कौन है अल्लाह ताला लेकिन इनका अकीदा है कि अच्छाई का खालिक तो अल्लाह है और बुराई का खालिक बंदा है हर फेल का हर चीज का खालिक कौन है अल्लाह ताला खिंजीर हो कुत्ता हो इंसान हो जानवर हो सारी मखलूक जो है मखलूक के माना यही है जो बनाई गई तो हर चीज का खालिक कौन है अल्लाह ताला तो अगर दर हकीकत देखा जाए तो उन्होंने कुरान की भी तोहीन की और अल्लाह की भी तोहीन की इनका एक बुनियादी अकीदा है कि हजरत जबरील अमीन वही लेकर आए थे अल्लाह ने हुक्म दिया था हजरत अली के पास लेकर जाओ लेकिन हजरत जबरील से गलती हो गई और वो वही लेकर हजूर के पास आ गए तो इनके नजदीक हजरत अली जो है ये रसूलुल्लाह से अफजल हुए कि वही के मुस्तक कौन थे हजरत अली और गलती में जबरील जो है वहां चले गए अब एक जो सबसे बड़ा खतरनाक मसला है वो कदियानियों में भी है शियों में भी है देवबंदियों वहाबियों में भी है और हर एक फिरके में है वो मसला है तकिया तकिया किसे कहते हैं तकिया ये कहते हैं कि सुन्नियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जितना झूठ बोलो इतना सवाब मिलता है ख़ास तौर पर शियों में ये अकीदा है कि ला दीना लिमल्ला तकिया तला जो तकिया ना करे वो मुसलमान ही नहीं वो मोमिन ही नहीं इनके नज़दीक तकिया करना फ़र्ज़ है यानी जैसा बंदा वैसी बात करना तो जब सुन्नी मुसलमान जाते हैं और कहते हैं भाई जनाब आप ऐसी बातें करते हैं तो कहते हैं नहीं जनाब किसने कह दिया हम तो सिद्दीक अकबर से भी प्यार करते हैं हजरत उस्मान गनी से भी करते हैं हजरत उमर से भी करते हैं हजरत अमीर माविया से भी करते हैं तमाम साहबा के नाम से करते हैं ये जहां फंसते हैं तो वैसी बात करते हैं लेकिन इनकी जो असल किताबें हैं उसमें ये सारी चीजें हैं बस हमें जो समझना है वो ये है कि हमें ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहना है अपनी औलाद को भी दूर रखना है ऐसे स्कूल ऐसे कॉलेज ऐसी यूनिवर्सिटियां कि जिनके चलाने वाले ऐसे अकायद के हामिल हैं वो ऐसे टीचर रखते हैं कि जो बातों बातों में गुमराह गुमराहियों की बातें बच्चों के जहनों में डालते हैं तो हमारा बच्चा जाहिर रहे ये इससे बेहतर है कि हम अगर अपने बच्चे को किसी ऐसी स्कूल में दाखिल करवाएं कि जिसके चलाने वाले गुस्ताख साहबा हों और वहां कोई ऐसा टीचर हो कि बातों बातों में साहबा कराम की नफरत डाल दे इससे बेहतर तो यह है कि हमारा बच्चा जाहिल रह जाए कम अज कम साहबा कराम का गुस्ताख तो नहीं बनेगा तो ये एक समझाने के लिए मिसाल दी क्या ऐसे स्कूल मौजूद नहीं है कि हम दूसरे स्कूल में दाखिल करा दें तो हर उस स्कूल से बचें जिसके चलाने वाले कादियानी हों या दीगर बदअीदा लोग हों अल्लाह ताला हमें भी ईमान की सलामती अता फरमाए हमारी औलाद को हमारी नस्लों को हाथ उठा के दुआ फरमाए कि हमारी औलाद में हमारी नस्लों में कोई बदअीदा पैदा ना हो ए अल्लाह ए करीम परवरदिगा तू हमें हमारी औलाद को हमारी नस्लों को अहले सुन्नत व जमात पर साबित कदमी नसीब फरमा तमाम बदअकीदा लोगों से हमें हमारी औलाद को हमारी नस्लों को महफूज फरमा ए मालिक हमें ईमान की सलामती अता फरमा ए मालिक हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपनी मोहब्बत दी अपने नबी की मोहब्बत दी कुरान की मोहब्बत दी खान काबा की मोहब्बत दी मकई मुकर्रमा मदीन मुनवरा की मोहब्बतें दी साहबा कराम अहल बैत अतहार की मोहब्बतें दी अलिया कराम की मोहब्बतें दी ए अल्लाह इसी मोहब्बत पर कायम और दायम रहने की तोफ़ी अता फरमा अल्लाह तो इस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा इसे मजबूती अता फरमा और बातिल फिरकों से यहूदियों ईसाइयों की साजिशों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रहने की तोफ़ी अता फरमा ए मालिक